आप बताओ अपना हंसने के लिए कुछ बात छेड़ दी आप आप करते तो ये रोग सब में लगा हुआ है आपको ये पता नहीं इससे हमारी आध्यात्मिकता में कितनी हानि होती है और आप इसको उन्नति का कारण मान, मान बैठे अब आपको ये पता नहीं इस रीति पद्धति से व्यक्ति को विवेक वैराग्य होगा ही नहीं वो पचास वर्ष भी मेहनत करे तब भी नहीं होगा ये शैली ही नहीं है विवेक वैराग्य की स्थिति पर जाने के लिए वो व्यक्ति कितना गंभीर होता है जैसे आज 12 बजे फांसी टूटनी है निश्चित हो गया विकल्प नहीं है लौकिक व्यक्ति जीना चाहता था खाना पीना चाहता था संपत्ति सब कुछ उसके पास में था और वो चाहता था मैं भोग भोगू चालीस पचास वर्ष कम से कम आज फांसी का आदेश हो गया है कल्पना कीजिए वो जितना गंभीर व्यक्ति आज है ये विवेक वैराग्य को प्राप्त करने वाला व्यक्ति ईश्वर साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति इतना गंभीर होता है मुझे समझ में आया नहीं आया बोलिया शंका हो तो पूछे बोलो उसको ऐसा दिखता है कि मेरा शरीर मौत के मुंह में खड़ा है फांसी वाले को जैसा दिखता है उसको वैसा दिखता है कि 12 बजे राख हो जाएगी या शरीर मर के लोथड़ा रह जाएगा उसको निश्चित हो गया दिमाग में ऐसे इस विवेक वैराग्य प्राप्त करने वाले व्यक्ति के दिमाग में अपना शरीर औरों के शरीर भी ये नहीं होता अपना शरीर दिखाई देता और दूसरों का नहीं देता हो सबके शरीर ऐसे दिखाई देते वो ये देखता है फिर भूमि आदि की ओर देखता तो भूमि आदि को भी ऐसा ही देखता है नहीं रोकेंगे ऐसा देखता रहता है और देखता है कि मैं उस घटना से पहले जो कुछ मुझे करना है वो कर रहा उसको ना हंसने की बात आ रही है ना छेड़ने की बात आ रही है ना चुटकले सुनने की बात आ रही है ये वो बस कहता है मैं इसको कर डालू पता नहीं ये मृत्यु कब आती है ऐसे चलता ये अपने डॉक्टर जी सोच रहे होंगे कुछ ग्रेथ के काम करूं और फिर इतने बच्चे हो जाएंगे उनको पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा उनको इनमें बी ए बनाऊंगा फिर मैं योग की बात करूंगा इनके दिमाग में ये पता नहीं कल ये रहेंगे या नहीं रहेंगे आप नहीं मानते इन बातों को सुन तो ली आपने अच्छी लग हो सकती लगी हो इनका प्रयोग जब करेंगे जब पता चलेगा लोग कहते हैं ऐसे रहने में तो शोक सागर में डूब गए जैसे हैं आपको पता ही नहीं ये जो व्यक्ति सोचने वाला है ये दुनिया का व्यक्ति कोई इतना प्रसन्न नहीं रह सकता जो व्यक्ति इस स्थिति में अपने आप को बना ले इतना प्रसन्न रहता अंत स्थिति में कलेशों से मुक्त रहता ही नहीं समझ में आया राग द्वेष सुख सुख के साधन उनकी प्राप्ति मैं जो सतत सोचता रहता ना उसमें राग द्वेष ये लगातार उत्पन्न होते रहते इसको सुख मिलेंगे मुझे के सुख के साधन मिलेंगे और सुख में बाधक ये बनेगा सुख के साधन बाधक ये बनेगा इसमें राग द्वेष हंसने वाले व्यक्ति के बात समझा रहा हूँ इतने रहेंगे कहता जी मैं प्रसन्न चित्त इसलिए रहता हूँ कि उसे शोक नहीं होता उसे स्वास्थ्य ठीक रहता है हम ये कहते हैं ये सोचने वाला व्यक्ति जितना प्रसन्न रहता है जितना राग द्वेष से रहित रहता है ये लौकिक व्यक्ति नहीं रह सकता आपको नहीं जस्ती तो पूछो क्या समझ में आया नहीं आया तो पूछो आदित्य जी क्या कहा मैंने वही सुनाओ बोलो पकड़ना सीखो हाँ बोलो आपको क्या समझा हाँ जी साधारण स्थिति के लौकिक है उनकी तो बात वहां तक ठीक बैठेगी ऊंची स्थिति जिनकी गंभीर स्थिति है उनके ऊपर ये नियम लागू उल्टा चलेगा उनके <laughs> साधारण व्यक्ति हैं राग द्वेष से प्रभावित हैं और उनको हंसा दो थोड़ा सा एक स्तर पर और चुटकले थोड़े सुना दो फिर कहीं हाँ आज संध्या मन अच्छा लगा और जब ऊंचा स्तर आगे आएगा जब ये नहीं चलेगा कुछ ये चलेगा ही नहीं और कहे कि ये वहां चलेगा तो विवेक वैराग्य भी नहीं होगा ये भी याद रख लिया वो गंभीरता से जो प्रसन्नता आती है जो उस व्यक्ति में जो ऊंचे स्तर वाला व्यक्ति है ऊंचे स्तर वाले व्यक्ति में जो गंभीरता से जो प्रसन्नता आती है वो दूसरे में आती ही कभी नहीं साधारण व्यक्ति लौकिक व्यक्ति जो राग द्वेष से होते पर्वत हैं चिंताओं से ग्रस्त रहते हैं उनको थोड़ा सा को हंसो थोड़ा सा चिंता मत करो थोड़ा सा उसको सुना दो अगर घर की उसकी चिंताओं से दूर होकर के हाँ ठीक बात है वो भूल भाल गया उनको अच्छा अब वो गायत्री मंत्र बोलो अब संध्या करो उसका मन कहेगा और तो बड़ा मन लगेगा ये साधारण लोगों के लिए तो कुछ ही मंत्र उपयोग होता है इन चीजों का और गंभीरता में जब जाते हैं गहराई में जहां अपर वैरागी की बात उभरती है उसमें ये नहीं चलता बिल्कुल उसमें जो करेगा वो धोखा खाएगा उसको विज्ञान का ही पता नहीं नहीं आया समझ में विभाग बना दे उसकी कचरी बातों को लेकर कई संविधान बनाना हानिकारक होता है कौन बात कहां पर लागू होनी चाहिए ये भी भाजन सबको नहीं आ सकता जिसने पूरा क्षेत्र पार किया वो बताता है एक यहाँ इतना काम लेना यहाँ इतना नहीं लेना यहाँ इतना ही लेना यहाँ इतना लेना दूसरा व्यक्ति नहीं जानता उसको सांसारिक स्तर तक दौड़ लगाई है उसने डॉक्टर जी जैसे सांसारिक स्तर दौड़ लगाई फिर वो मापदंड बनाने लग गया तो मापदंड बनाने लगा तो गलत बन गए और कहने का नहीं मेरे मापदंड ठीक है अच्छा ये कल्पना करो उसको अपर वैराग्य होगा तो उसके ऊपर होगा तो कहेगा मेरे मापदंड जो थे वो गलत थे कब आएगा दिमाग में नहीं आएगा नहीं जीवन में सारे जीवन यही कहता रहेगा यही लिखता रहेगा यही बोलता रहेगा एक बीच में रोचक बात सुनाओ रोचक भी है और उसका प्रसंग भी जुड़ जाएगा तो मध्य प्रदेश अब कौन सा उसका भी विभाजन हो गया होगा रायपुर है ना तो वहां शिक्षण शिविर चल रहा ऐसे जैसे आठ दस दिन का चलता और एक व्यक्ति अवस्था के और वो प्राकृतिक खान पान करते थे प्राकृतिक लोग जैसे भाई फल खाना ये खाना वो खाना सलाद खाना ये खाना घी दूध खाने से कोई ऐसी बात नहीं है घी दूध से कोई बल थोड़ा ही बढ़ता है ऐसी बात वो आते और अपनी बात करना आरंभ करते देखो आप घी खाते हो आप दूध भी पीते हो और मैंने घी खाता और मैं दूध पीता मेरे अंदर इतनी शक्ति है सारे काम कर डालता हूँ वो ये कहता एक दिन का या दो दिन कहा तो मैंने सोचा ये ऐसे मानेगा नहीं है व्यक्ति <laughs> तो जो आए ना वो तो मैंने इसको पकड़ लिया ऐसे मैंने कहा देखो आप हैं प्राकृतिक भोजन खाने वाले मैं हूँ घी दूध खाने आप छुड़ाओ छुड़ाओ कहते ना मेरे में इतना बल है उन्हें खूब जोर लगाया मैंने और दबा दिया खूब जोर लगा और दबा दिया वो गिर गया शायद जहां तक मुझे पता है अब वो टस से मस नहीं हो पाया मैंने कहा बताओ घी खाने वाले में भले आप प्राकृतिक वाले में मापदंड बना लिया गलत तो रोगियों का जो भोजन था वो स्वस्थों के लिए भी वही भी दान कर डाला प्राकृतिक वाले ने ये भाई ये पत्ते खाओ ये खाओ घी न खाओ ये तो रोगियों के लिए है नहीं समझे मेरी बात बलवानों के लिए शक्तिशालियों के लिए उन वीरों के लिए थोड़ा ये पत्ते खाते और एक गाजर मूली खाते रहे और घी दूध मत खाओ <laughs> तो मैंने कहा आपको पता चला मैं घी दूध खाने वाला हूँ आप साग पत्ती भाजी खाने वाले बताओ किसमें देखभाल है उनका दिमाग जब ठिकाना आया हुआ आपका भी दिमाग जब ठिकाने लगेगा जब ऐसी चोट लगेंगी नहीं तो मानोगे नहीं आप नहीं मानोगे ना लुट पिट करके तम कहेंगे हाँ स्वामी जी ठीक कहते थे अब क्यों नहीं मान लेते आप लुटने पिटने से पहले बताओ लुट पिट के मानोगे या पहले मान लोगे हाँ तो ये सुव्यवहार है लुटपट के मानोगे ये कुव्यवहार इस इसी बात के लिए एक बुढ़िया का दृष्टान देते हैं लोग एक बुढ़िया माता थी अपनी एक गठड़ी ले रही थी उसमें उसका साज सज्जा सब कुछ थे और कई बुद्धिमान लोगों ने कहा कि माता जी ये क्षेत्र जो है चोरों का डाकुओं का है आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ भाग दौड़ करके यहाँ से आपका सामान लूट लेंगे माता जी ने सुना ही ठीक है कह दिया सब कह दी फिर चोरों के क्षेत्र में जब गई और वो उनकी गठड़ी छीन ली जो कुछ था और फिर माता जी ने दौड़ लगाई तो सुझाव देने वाले ने कहा माता जी आप भागी तो फिर गठड़ी छिन गई जब भागी नहीं समझे अब दौड़ लगा रही है आप लुटपट कर दौड़ लगाओगे फिर कहेंगे स्वामी जी ठीक कहते थे डॉक्टर जी भी जब ये घर में इनके कचुम्बड़ निकल जाएगा ना बच्चे कच्चे इनका थप्पड़ मारेंगे और कहेंगे बाहर चलो यहाँ योगाभ्यास की बात करते हो संध्या की बात करते हो आप जाओ करना हो तो अब जो कहेंगे हाँ तो वो मैंने भूल कर दी लुट पिट के कहेंगे अब इनको समझ में नहीं आ रहा नहीं अब तो ये सोचते हैं वहां सुख मिलेगा सुख मिलेगा वहां चिपटे हुए हैं घर में सुख वहां है ही नहीं सुख मिलेगा कहा जो सुख मिलेगा उसमें चार प्रकार का दुख मिला हुआ वो सुख भी दुख बन गया वहां सुख है वहां लौकिक है वह भाव नहीं है और उसमें परिणाम दुख ताप दुख संस्कार दुख वो दुख है तो सुख भी दुख मिल जाता है जिस सुख में दुख मिल जाए वो सुख दुख मिल जाता है बुद्धिमान उसको ग्रहण नहीं करेगा वाच्यान भाषा में बहुत अच्छा भोजन है स्वादिष्ट है सब कुछ बना हुआ और उसमें चालीस किलो में एक तोला जहर मिला दिया वो कहता है जहर मिला दिया तो कहता बुद्धिमान तो उसको जहर समझता है विष समझता है और मूर्ख उसको भोजन है हलवा समझता वो खाता उसकी मृत्यु होती है बुद्धिमान उस दुख से बच जाता ये डॉक्टर जी की स्थिति है अब बताओ क्या करोगे और यही आपकी होगी देख लो ठीक है आ गया समझ में अब विराम मान्य विद्वदगण धर्म प्रेमी सज्जनों मातृशक्ति प्रसंग उपस्थित है कि उचित व्यवहार से ही व्यक्ति लौकिक उन्नति आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है अन्यथा नहीं स्वस्थ बनाने के लिए प्रयास करते हैं उचित प्रयास करते हैं तो उन्नति होगी अपने आत्मा बुद्धि मन इंद्रियों से उचित शुद्ध है प्रयत्न पुरुषार्थ करते हैं तो उन्नति होगी अन्यथा नहीं कुछ स्थूल मोटे व्यवहार हैं यद्यपि व्यक्ति सोचता विचारता है कि इन मोटी मोटी बातों से उन्नति का क्या संबंध है आपने अपने कमरे का दरवाजा खुला छोड़ दिया कोई बात नहीं ये कोई उन्नति में बाधक नहीं ऐसा व्यक्ति सोचता है आपके शौचालय की शुद्धि नहीं हो रही कम हो रही है तो वो मानता है कि इस थोड़ी शुद्धि के होने से उन्नति में क्या बाधा है अपनी वस्तुओं को ठीक ठीक वो व्यवस्थित नहीं रखता बखेर देता है इधर रखती कभी उधर रखती वो मानता है इन के इधर उधर रखने से जीवन की सफलता में क्या बाधा पड़े ऐसा वो सोचता है आप अपने कमरों को देखो शौचालयों को देखो फिर झांकियों को देखो तो उसमें बहुत अशुद्धि है तो आपने मान लिया कि इससे क्या उन्नति में बाधा पड़ेगी व्यक्ति देखता रहता है ये अशुद्धि है और देखता रहता है और उसको दूर कभी नहीं करता आलस्य प्रमाद के कारण अथवा ये मानता है कि इससे क्या बाधा पड़ती है इसका क्या देखना ये सोचता है उसका परिणाम बाहर तो बुरा होगा ही बुद्धिमान जब देखेगा कि इनके शौचालय देखो इनके स्नानागार देखो अशुद्ध पड़े उसके ऊपर ये प्रभाव है कि बड़े आलसी प्रमादी व्यक्ति है इनको रहना नहीं आता दूसरे व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव डालना अपने व्यवहार से वो व्यक्ति की उन्नति में बाधक है दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना अपने व्यवहार से वह उन्नति में साधन है उपाय है उस बाहर की अशुद्धि का एक प्रभाव जब वो बाहर की शुद्धि पर ध्यान नहीं देता अशुद्ध उसकी वस्तुएं उसके शौचालय उसका स्नानागार उसकी झांकियां अशुद्ध पड़ी रहती तो परिणाम ये निकलता है वो मन में जो अशुद्धियां रहती हैं बुद्धि में अशुद्धि रहती है अंतकरण में उसमें भी ऐसे ही अशुद्ध ढेर पड़ा रहता है उसके ऊपर भी ध्यान नहीं देते आपके मन में विचारधाराएं चलती रहती हैं उन विचारधाराओं में आप विविध प्रकार का ऐसा निर्णय करते हैं जो आपके लिए हानिकारक है अब बुद्धिमान व्यक्ति देखता है मैं बुद्धि से जो निर्णय करूंगा ये ठीक है ये ठीक नहीं है जो ठीक नहीं है उसको मैं ठीक निर्णय कर लूंगा और जो ठीक है उसको अशुद्ध मान के छोड़ दूंगा तो वो व्यक्ति बुद्धि से ठीक लाभ नहीं उठा रहा अर्थात विपरीत व्यवहार कर रहा है जैसे उदाहरण के रूप में ले लो उसने सोचा ये दर्शन शास्त्र पढ़ने से उपनिषद पढ़ने से वेद पढ़ने से कोई योगी थोड़ा बनता है इनके बिना योगी बन जाता है इनको पढ़ने से कोई विशेष लाभ नहीं उसने निर्णय कर लिया हो गया निर्णय और उसने ये नहीं सोचा मैंने जो ये निर्णय किया ये बुद्धि का दुरुपयोग किया मैंने इन निर्णय जो किया मैंने क्या समझ में आ रहा आप क्या ऐसा निर्णय नहीं करते आप अपना अपना बताओ हम्म? ऐसा निर्णय नहीं करते ये तो एक उदाहरण मात्र है मानसिक स्तर पर बौद्धिक स्तर पर जो सतत दिन भर ये निर्णय होते रहते अच्छे बुरे अच्छे बुरे ढेर होता है अब ये व्यक्ति इसकी काट छांट नहीं करता निर्वाचन नहीं करता ये मुझे निर्णय नहीं लेने चाहिए और इनको अस्वीकार नहीं करना चाहिए ये अच्छे निर्णय हैं इनको अच्छे पक्ष के लिए इनका मुझे निर्णय करना चाहिए कि मोटा व्यार योग दर्शन का मूल है मैं इसको कंठस्थ करूंगा एक स्थिति ये अच्छा निर्णय है फिर कहा योग दर्शन के मूल से क्या होता है कुछ भी नहीं रट्टा लगाने से कुछ नहीं होता थोड़ा सा वो अभिप्राय समझ लेना चाहिए अब ये उसका उल्टा लेना फिर वो सोचता है अगला कि ये व्यक्ति मैं इसके अर्थ अच्छी तरह समझ गया मुझे तो आ ही जाते समझ लेता हूं दूसरे को पढ़ाने का क्या लाभ है वो पता नहीं आचरण भी करेगा या नहीं करेगा इसका मैं अपना समय उसके लिए लगाऊं इसलिए न पढ़ाना ठीक है वो निर्णय कर लिया उसने ये उल्टा निर्णय हो गया और उसको यही पता नहीं चल रहा मैं जो निर्णय कर रहा हूं मेरे लिए घातक है ये और समाज के लिए घातक है आप अपना अपना अध्ययन निर्णय बताओ क्या जो आप यहां पढ़ते हैं उसको जरूर पढ़ाएंगे अवश्य ही पढ़ाएंगे ऐसा कौन कौन सोचते हो आप अपना बताओ आप अपना बताओ कैसा सोचते अच्छा अब इन्होंने जो तो विचार ही नहीं किया ये बौद्धिक <laughs> कुव्यवहार है <laughs> ये कुव्यवहार है आलस्य से नहीं किया बताई हुई बात नहीं मानी या जो निर्णय हो जाना चाहिए था वो किया ही नहीं आप बोलो अपना हाँ, ऊंचा बोलो ऐसे ही बीमारों की तरह बोल रहे अभी पूर्ण रूप से विचार नहीं किया नहीं किया ये बुद्धि का दुरुपयोग किया आपने क्या जो हमारे लिए चाहिए हमको पढ़ाते हैं क्या हम उसको दूसरों को न पढ़ाए ये बात है ये इस पर विचार ही नहीं करना चाहिए करना चाहिए फिर क्यों नहीं किया हाँ जी आप ये अवश्य पढ़ाऊंगा ऐसा किया आपका पढ़ाने का विचार हाँ जी पढ़ाने का विचार हाँ जी बोलो मैं भी पढ़ाऊंगा हाँ जी आप बोलो अब ये बुद्धि का दुरुपयोग है इनको पता नहीं चला मैंने जो उत्तर दिया ये ठीक है या गलत है ये ठीक है या गलत है, है? गलत है गलत क्यों है तात्पर्य ने समझ के उत्तर दे डाला अब उत्तर क्यों दिया इसने तात्पर्य समझते तो निर्णय करते कि ये उत्तर देना ठीक है तो बुद्धि का सदुपयोग हो गया विचारते निर्णय करते ये ठीक है तो बुद्धि का उपयोग ठीक हो गया अब बेचारा ने उल्टा निर्णय कर दिया इन्होंने झटाझट क्या किया मैंने भी पढ़ा ही नहीं है अब वक्ता का अभिप्राय ये नहीं है आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा है <laughs> क्या समझ में आया भूला ही समझ में क्या आई अब ये व्यक्ति ये कभी बुद्धि से नहीं सोचता वक्ता के लेखक के अभिप्राय को समझना चाहिए इस पर कोई जोर नहीं देता ये बुद्धि का दुरुपयोग है उपदेशक अध्यापक लेखक के अभिप्राय पर बहुत जोर देना चाहिए ये तो अच्छा निर्णय है और लेखक उपदेशक अध्यापक इनके उपदेश कथन पर बल ही नहीं देना ये कोई काम ही नहीं है ये तात्प्रिय पर जोर दो ये बुद्धि का दुरुपयोग हो गया अब हम सोचते हैं हम विचारते हैं और विविध विषयों पर अपना निर्णय करते रहते हैं ये ऐसा है ये ऐसा है किसी की हम इच्छा करते हैं उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं जिसकी इच्छा नहीं करनी चाहिए उसकी इच्छा करते हैं जिसकी इच्छा करनी चाहिए उसकी इच्छा नहीं करते बहुत सोचते हैं पर बुद्धि से ये निर्णय नहीं करते इस बेचारे हुए को अच्छे को बुरे को मेरी इच्छा को मेरी योजना को ईश्वर जो का तो जान रहा है मेरे पास में उपस्थित है ऐसा बुद्धि से निर्णय नहीं करते ये बुद्धि का दुरुपयोग है क्या समझ में आया बोलो नहीं आया समझ नहीं आया किस किस को नहीं आया हाथ खड़ा करो जिसको नहीं आया हो एक और जिसका आ गया हो हाथ खड़ा करो तो आप बोलो क्या आया समझ प्राय व्यक्ति अपने द्वारा निर्णय अच्छे बुरे किए गए निर्णय को विचारता नहीं है अपने मन से और वह यह नहीं समझता कि ईश्वर है वो अच्छे बुरे कर्मों को हमारे सदा पास उपस्थित होकर देख रहा है हम्म, हम्म। तो ऐसा बुद्धि से वो निर्णय नहीं करता ये मेरे अच्छे बुरे बुरी अच्छा अच्छी अच्छा योजनाएं ईश्वर ज्यो का तो जान रहा है और जानता हुआ विद्यमान भी है दोनों बात है ना जानना एक पृथक विभाग है और विद्यमान रहना एक दूसरा विभाग है वो विद्यमान भी है और जानता भी है और इनका वो फल भी देगा ये बुद्धि का सदुपयोग है वो बिजारता है चलता है फिरता है खाता है पीता है और वो ये निर्णय नहीं करता मुझे चलते हुए को घूमते हुए को विचारते हुए को सतत ईश्वर देख रहा है ये बुद्धि में नहीं लाता उसकी बुद्धि ये काम नहीं करती यदि करती है तो वो बुद्धि का उचित उपयोग नहीं करती तो अनुचित का प्रयोग वो निर्णय करता है मानसिक स्तर पर कि संसार के इंद्रियों के विषयों में सुख है ये निर्णय करता अब निर्णय करते समय वो ये विचार नहीं करता मैं जो ये निर्णय कर रहा हूं इंद्रियों के भोगों में सुख है वास्तव में ये सत्य है या असत्य है इसका विशेष विवेचन नहीं करता कोई परीक्षा नहीं करता और निर्णय करता रहता है दिन भर इंद्रियों के विषयों के भोगों में सुख है इनमें सुख है इनमें सुख है दिन भर बुद्धि से ऐसे निर्णय करता रहता है ये जो कि बुद्धि का दुरुपयोग है और इसके विपरीत जो दिन भर इंद्रियों के विषयों में सोचता है इंद्रियों के विषयों में जो मैं सुख समझ रहा हूं इसमें दुख है ये निर्णय करता रहता इनमें दुख है इनके भोगों में दुख है इनके भोगों में दुख है दिन भर उसके विचारधारा चलती है तो वो उचित उसका उपयोग है आप में से एक विद्यार्थी सोचता है एक घंटा प्रातः काल एक सायकाल इतना समय हमारा उपासना में चला जाता है यदि इसका आधा घंटा कर दिया जाए तो फिर पढ़ाई अच्छी होगी एक ऐसा निर्णय हम्म? उसकी कोई मानता नहीं सोच तो सोचता है उसकी बात मानी नहीं जा रही तो भी यही सोचता है फिर ये भी नहीं विचार करता कोई मानता तो है ही नहीं मैं उल्टे विचार भी क्यों सोचता रहूं कम से कम इससे तो बचूं वो ये भी नहीं करता गाज भी खाए और जूते भी खाए हैं कथा सुनी है ना या नहीं सुनी नहीं सुनी आज तक तो ऐसे ही रहे एक दृष्टांत बनाया गया हो गया या बना लिया जाता है एक व्यक्ति ने कोई दोष किया चोरी आदि राजा ने उसको दंड दिया आदेश दिया कि इसको सूखे जूते श्रम सौ मारो अथवा सौ प्याज खिलाओ जो भी चाहे वो करो तो उसने सोचा सूखे जूते ऐसे सो मारे तो सर पता नहीं फूटेगा टूटेगा प्याज तो खाने में कोई दिखता नहीं है इतनी कठाई होती है वो प्याज खाना आरम्भ कर दिया दो चार खाते ही मुंह जलने लगा और भाई वो बहुत दुखी हो गया कहने लगा जी मेरे प्याज खाना मेरे बस की बात नहीं मुझे तो जूते मारो अब जूते पांच मारे दस मारे बड़ा भयंकर दर्द भाई तो शरीर फूट टूट जाए कहता जूते मेरे बस के नहीं है प्याज ही दे दो फिर प्याज खाए दो चार फिर कहेंगे नहीं मैं प्याज नहीं खा सकता मुझे जूते ही मारो फिर जूतों से दर्द आनी मुझे प्याज ही खिलाओ वो जूते भी खा गया और प्याज भी खा गया अब दो दो मार पड़ती है व्यक्ति के ऊपर अच्छा वो कम से कम एक पक्ष में तो एक मार पड़ी और उसमें दो मार पड़ी बुद्धिमान अपनी बुद्धि से क्या करता है मार कर लो दो नहीं पड़ेंगी ऐसा करूंगा तो और जो बुद्धि का दुरुपयोग करता है वो विचार नहीं करता कि दो मार पड़ेंगी नहीं निर्णय करता तो दो मार पड़ती है उसको बुद्धि को मन को इंद्रियों को व्यक्ति दिन भर नियंत्रण में रखता है विचारधाराओं को दिन भर नियंत्रण में रखता है अनुचित इच्छाएं जो उभरती रहती उनको नहीं उभरने देता आप देखेंगे चलते फिरते खाते पीते इच्छाएं उभरती रहती है आप परीक्षण कर सकते हैं और वो बुरी भी होती है कहीं अच्छी भी होती है अब वो जो बुरी इच्छाएं उभरती है वो व्यक्ति के ऊपर कुप्रभाव डालती है उसके आत्मा पर उसके शरीर मन इंद्रियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है उसने ध्यान दिया देखा कि बुरी इच्छा बिना ही बेचारे बिना योजना के तत्काल हो जाती है बुरी इच्छा बुरी बुरी क्रिया करने की इच्छा बुरे पदार्थ प्राप्त करने की इच्छा ऐसे चलती या नहीं चलती हुँ? आपको पता चलता है क्या इन बातों का यानी बुरी इच्छा चोरी की इच्छा जैसे उदाहरण के रूप में मन में ऐसे चोरी की इच्छा होगी साधारण रूप से बड़ी लंबी चोरी की नहीं जैसे कि मैं आपको बताता हूं आपके कमरे में कई एक विद्यार्थी है उसकी कुछ चीजें वहां रखी है हम्म? पुस्तक हो और कोई हो लेखनी हो कुछ भी हो जब आपने देखा ये लेखनी है ये पुस्तक है तो लंबी चौड़ी बात नहीं सोचनी पड़ी तो इसको उठा के काम में ले लेना चाहिए तो इतना शीघ्रता से विचार हुआ फिर नहीं बिना पूछे चोरी है क्या समझ में जब इस पहले इच्छा कर ली इसको काम में ले लेना चाहिए हो गया अधर्म या नहीं हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ नहीं मन से इसको काम में लूंगा मैं मानसिक हुआ अब फिर पता चला ये बुराई है कहे नहीं ले नहीं लेनी चाहिए वहां से रोक ली फिर दूसरी बात आ गई कोई जो नहीं सोचनी उसकी इच्छा हो गई पहले सोच लिया इच्छा भी हो गई फिर कहने गई तो बुरी इच्छा हो गई उसको फिर रोक दिया आप ये देखेंगे दिन भर ये बुरी इच्छाएं और अच्छी इच्छाएं होती रहती हैं उसकी स्थिति इसी रूप में बनी रहती है अब इससे हम कैसे बचते हैं बुरी इच्छाओं से तो जब हम मन को चित्त को पूरा अधिकार में रखेंगे छोड़ेंगे ही नहीं तो इस प्रकार की बुरी इच्छा नहीं हो पाएगी इतना यदि छोड़ते हैं तो बुरी इच्छा हो जाएगी और इच्छा होने पर आप प्रयास करके रोक देंगे इसको इतना तो हो जाएगा वो इच्छा बुरी इच्छा संस्कार के बल पर फिर होगी क्योंकि संस्कार संस्कार उसके अंदर बैठा हुआ ये स्थिति उसके कितने वर्षों तक चल सकती है यदि इसको न रोका जाए अब एक और बात वो जो बुरी इच्छा होती है बुरे संस्कारों के कारण या तमोगुण के कारण उस बुरी इच्छा को वो रोकता नहीं पूर्ण रूपे और नहीं रोकता तो वो स्थिति संस्कार की जो की तो बनी रहती है लंबे काल तक कालांतर में यदि उसको चोरी आदि करने का अवसर मिलता है तो वही इच्छा उसे चोरी करवा देती है बड़ी चीज देखेगा बड़ी धन संपत्ति देखेगा ऐसी बुराई देखेगा उस समय वो इच्छा इतनी प्रबल हो उठेगी कोई ना हो जंगल जैसी चीज हो और वही इच्छा फिर आई आई तो वो जब तो मंद थी समाज के कारण समाज के लोग इसमें क्या कहेंगे कर लिया तो दंड मिलेगा ये भाग अब जब ये स्थिति न हो जंगल जैसी एकांत स्थिति हो तो वो क्या होता वो इच्छा उसकी इतनी तीव्र हो जाएगी आगे बढ़ जाएगी वो चोरी कर डालेगा परिणाम ये निकलेगा यदि कल्पना जब चोरी नहीं करता तो ध्यान देंगे ये चोरी करने की इच्छा क्यों हुई हाँ जी आप बोलो क्यों हुई इसको खोजो से उसमें सुख रहा सुख की प्राप्ति की इच्छा से अच्छा उसमें सुख दिखाई क्यों दे रहा है हाँ जी आप बोलो अविद्या तो अविद्या के कारण उसने मूल में देखा ये चोरी करने की इच्छा क्यों हुई उसने ये देखा तो पता चला कि ये ये अविद्या के कारण से होती है अविद्या आई और चोरी की इच्छा हुई ये उसका सीधा संबंध प्रक्रिया में भेद होता है कहीं इसकी प्रक्रिया यूं भी चलती है बुरे संस्कार जो अविद्या जनित संस्कार अविद्या जनित संस्कार हमारे अंदर बैठे हैं अविद्या जनित अंधकारों को हमने उभार दिया उनके उभरते ही अविद्या उत्पन्न हुई अविद्या होते ही चोरी की इच्छा हो गई तत्काल ये एकदम हो गए या नहीं होता अब ये होता कैसे है इसके कारण क्या है इसको हटाया कैसे जाए आप ये नहीं जानते तो आप उस चोरी की इच्छा को नहीं रोक सकेंगे परिश्रम पुरुषार्थ करते करते महापुरुषों का सत्संग करते करते ऋषियों की पुस्तकें श्रद्धापूर्वक पढ़ते पढ़ाते यम नियम का पालन करते करवाते ईश्वर परिधान में लगातार रहते हुए जो व्यक्ति लंबे काल तक ये स्थिति इसी रूप में सोचता है वो उस अविद्या को वहां से उखाड़ता है और अविद्या से जनित संस्कार उसमें कारण हो तो उन संस्कारों को उखाड़ता है अब एक और स्थिति उसने एक बार तो उखाड़ दी उखड़ भी गए दूसरे दिन फिर आगे खड़े हो गए उसमें तो आभास हो गया कि ये बुराई है प्रतीति हुई उस काल में क्या समझे परिश्रम करते करते करते करते ज्ञान कमजोर हो जाता है कुसंस्कार निर्बल हो जाते हैं ना तो एक बार ऐसा उभार आया कि चोरी चोरी दिखने लगी उसको चोरी हानिकारक दिखने लगी उसको ये स्थिति है वही स्थिति बिगड़ी दूसरे दिन कई दिन के पीछे आगे चली वो जो बुरी दिखने लग गई थी चोरी वो फिर अच्छी दिखने लग गई डॉक्टर जी समझ मार रहा कुछ है जब यहां आते होंगे ना आप और जब योग दर्शन की पंक्ति लगाते होंगे और कुछ हमारी बात सुनते होंगे तो डॉक्टर जी की बुद्धि बनी कि हाँ ये गृहस्थ में जाना बच्चे पैदा करना ये तो दुखदाई है तो दिखने लग गई घर गए तो कहेंगे बच्चे के बिना तो हमारा निर्वाह कैसे होगा ये तो पुत्र तो ना हो तो घर सुनना पड़ा है और गृह तुम गए ही क्यों थे यदि पुत्र उत्पन्न निकलना था तो तो लोग ये कहेंगे देखो इसको पुत्र ही नहीं है कहते नहीं ये तो सुखदाई है और वो बुद्धि बदल गई वहां जाके ये तो इनका उदाहरण दिया और इनको समझ में भी आएगा ये और आपको भी आएगा आपने देखा एक व्यक्ति आया कार लेके आया उसके पत्नी भी बेटे भी छोटे छोटे बच्चे सुंदर सुंदर बहुत सुंदर और यहाँ खेलने लग गए और वो भी बच्चों के साथ खेलने लग गए फिर कुछ खाने लग गए और हंसते रहे और ब्रह्मचारियों ने देखा कितना सुखी व्यक्ति है <laughs> और उसको देखते ही कहता मैं ऐसा ही बन जाऊं तो अच्छा रहेगा वो मन में हो गया बाहर की बात छोड़ो मन में झट निर्णय हो गया कि मैं ऐसा ही बनू यदि अगर सावधानी बरती होगी तो कहेगा मैंने तो गलत सोच लिया अब वो संस्कार बन गया फिर वो बन गया ना एक बार के मैं ऐसा बनू वो बन गया फिर जम गया अंदर फिर आया दो बार फिर वही उभर के आ गया फिर कहेगा कि देखो ए, कितना सुखी है दूसरे कितनी सुखी कहते मैं ऐसा बनू कहते नहीं मैं ब्रह्मचारी रहूंगा मैं ऐसा क्यों बनू वो रोक दिया उसने तीसरी बार फिर देखा वो संस्कार फिर अंदर काम करता रहा ये जूते भी खा रहा है प्याज भी खा रहा दोबारा दोबारा मार पड़ रही है फिर उसी को छेड़ देता फिर उसी का जाता फिर उसी के छेड़ कमजोर व्यक्ति कई बार झगड़े कर देना एक तगड़ा और एक क्रोधी व्यक्ति जो है ना वो कमजोर हो उसकी पिटाई कर दी पिटाई कर दी तो उसे रोका नहीं जाता तो कहता अब की बार मार उसने फिर पिटाई की वो तो कमजोर तो था ही फिर क्रोध नहीं रोका अब की मार मार <laughs> फिर फिर मारी पिटाई वो फिर उसका क्रोध नहीं रुकता कह देता फिर पिटाई है और फिर पिटाई बार बार वो ये नहीं कहे अब की बार मार तो बच तो जाए कम से कम पहली पिटाई का ही दंड भोगना पड़ेगा दो बार फिर पिटाई हो रही है उसकी दो बार दो बार अच्छा ये बताओ इतना जो परिश्रम करते हैं इतनी सूक्ष्मता में जाते हैं कारण कार्य सहित उन्नति बताते इससे कुछ आपका दिमाग बदला या पलट झाड़ घी रहोगे आप ये बताओ आप हम्म? बदलेगा या आपका दिमाग या नहीं बदलेगा है जी परिवर्तन होगा कुछ है जी क्या जैसा सिखाया जा रहा है कर दोगे आप है जी कर दोगे यदि कर दोगे तो मेरे साथ उचित व्यवहार गुरुओं के साथ नहीं तो आपका सारा अनुचित व्यवहार है जो कर रहे व्यवहार की परिभाषा चल रही है ना हमारे साथ उपदेश देने वाले अध्यापक पढ़ाने वाले दुर्व्यवहार दुर्व्यवहार है आपका भयंकर फिर अधिकारी आपका प्रबंध करते ये भवन बनाए भोजन का प्रबंध करते इनके साथ दुर्व्यवहार कुव्यवहार इनके साथ इनको बुरा लगेगा ईश्वर भी विमुख हो जाएगा ईश्वर के साथ कुव्यवहार अच्छा इतनी बात आ गई समझ में अब विराम